दोहावली स्त्री झगड़े और मृत्यु की जड़ है जन्म पत्रिका बरत कै देखहु मन ही विचार दारुण बैरी मी चुके बीच विराजत नारी उद्बोधन धूप सिखा दीप सिखा समझुबति तन मन जय हो सि पतंग भज राम तज काम मद करहि सदा सत्संग शक्ति श्री रघुनाथ जी के स्वरूप के ज्ञान में बाधक है काम क्रोध मद भरत गृहासक्त दुख रूप ते किम जान रघुपति मूढ़ परे भवकूप काम क्रोधादि एक एक अनर्थ कारक हैं फिर सबकी तो बात ही क्या है ग्रह ग्रही पुण्य बात बस तही पुड बीछी मार तही पियाई बारुली कहु काचार पचार किसके मन को शांति नहीं मिलती ताहि की संपत्ति सगुन सुबह सपने हु मन विश्राम भूतद्रोहरत मोह बस राम विमुख रति काम ज्ञान मार्ग की कठिनता कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्योहने भगवत भजन के अतिरिक्त और सब प्रयत्न व्यर्थ है खल प्रबोध जग मन को निरोध कुल शोध करहित फोकट पचिमरही सपने हु सुख न सुबोध संतोष की महिमा को विश्राम के पाव तात सहज संतोष बिनो चले कि जल बिनु नाव कोट जतन पच पच मरिय माया की प्रबलता और उसके तरने का उपाय सुर नर मुनिको नाही जहि न मोह माया प्रबल अस विचार मन माहि भजिय महामाया पति गोस्वामी जी की अनन्यता एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास प्रेम की अनन्यता के लिए चातक का उदाहरण जो घन बर समय सिर जो भर जन्म उदास तुलसी या चित चात कही तऊ तिहारियास चातक तुलसी के मते स्वात हो पिए न पानी प्रेम तिशा प्राढ़त भली घटे घटेगी आन रटत रटत रसना लटी दिशा सुख अंग तुलसी चातक प्रेम को नितनु तत्न रंग चढ़त न चातक चित कबहु प्रिय प्रयोद के दीप तुलसी प्रेम पयोध की ताते नापन जोख बरसि परुष पाहन पयद पंख करो टुक टूक तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक उपल बरस घर जत तरजे डारत कुशिल कुलिस कठोर चितव की चातक मेघ तजी कबहु दूसरी ओर पबिपाहन दामिन गरज झारि झकोर खरखीज रोशन प्रीतम दोष लखी तुलसी राम हिरी मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवदे तुलसी तीन तब फब जो चातक मत ले तुलसी चातक ही फब मान राखिबो प्रेम वक्रबुंदलखि हो निदर निबाहत ने तुलसी चातक मांग दो एक एक घन धान देत जो भूभाजन भरत लेत जो भूटत पानी तीन लोकते हुकाल जस चातक ही के माथ तुलसी जा सुन दीनता सुनी दूसरे नाथ प्रीति पपेहा पयद के प्रगट नहीं पहचान जाचक जगत कना उड़ो यो कनौड़ा धान नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाय नहीं ले ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे को को न जायो जगत जीवन दायक दानी भयो कनोड़ो जात कही पयद प्रेम पहचान साधन सासति सब सहत सब ही सुखद फल लाहु तुलसी चातक जलद की दृढ़ बूझ बुझ चातक जीवन दाय कहीं जीवन समय सुरीत तुलसी अलखन लख पर चातक प्रीति प्रतीत जीव चराचर जह लगे है को हित मोह तुलसी चातक मन बसो घन सो सहज शरीर डोलत विपुल बिहंग विहंगपन पियत पोखरिन बारी सुजस धवल चातक नवल तुहे भुवन दस चारी मुख मीठे मानस मलिन कोकिल मोर चकोर सुजस धवल चातक नवल रजो भुवन फरितोर बास भेष बोलन चलनी मानस मंजु मराल तुलसी चातक प्रेम की किरत बिसद विशाल प्रेम न परखिय परु सपन पयद सिखावन ये जग कह चातक पात की ऊसर बरस में हम हो न चातक पात की देवन दान नूढ़ तुलसी गति प्रहलाद की समुझ प्रेम पथ गूढ़ गरज आपनी सबन को गरज करत उर आन तुलसी चातक चतुर भो जाचक जान सुदान चरग चंगुगत कही नेम प्रेम की पीर तुलसी पर बस हाड़ पर परि है पुम पुहमी नीर बधो बधिक पर पुण्य जल उलट उठाई चोच तुलसी चातक प्रेम पट भरत लागिन खोच फोर किय चेतुआ तुस परयो नीर निहारी गहि चंगुल चातक चतुर डार्यो बाहिर बारी तुलसी चातक देत सिख सुतहि बारही बार तातन तर्पण जिये बिना बारी धर धार जियतन नाये नार चातक घन तज दूसरही सुर सरहू को बारी मरत न मांगु अर्थ जल सुन रे दास प्यास पपी है प्रेम के परिहर नारू मास जो अचवय जल स्वाति को जाचय बारह मास ये पपीहा स्वाति जल जानो तुलसीदास जुगवत ने ही मेह मन तुलसी के मत चात कही केवल प्रेम पियास पियत स्वाति जल जान जग जात जाचत बारह मास आल बाल मुक्ता हलने स्नेह तरुमूल हो तुचित चात कहे स्वाति सलील अनुकूल उष्ण काल यरुदेह खिना मगपंथी तन ऊख चातक बतिया नारुचि अनजल चे रूख अनजल चे रूख के छाया में तरुघाम तुलसी चातक बहुत है यह प्रवीण को काम एक अंग जो सनेहता निस दिन चातक ने तुलसी जासो हित लगे वही आहार वही देह